की विद्या व्यवहार जो जो आवश्यक कर्तव्य जहां जहां इसको जानना चाहिए इसको जानने के इच्छुक तदनुरूप परिश्रम करने वाले व्यक्ति संसार ही होते एक सोचने का ढंग पद्धति है सत्य की गवेषणा कितने स्तर पर किस दृष्टि से करनी चाहिए ये प्राय व्यक्ति नहीं जानते संसार के लोग सांसारिक विविध प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए प्रयासशील रहते हैं बहुत प्रयत्न करते हैं यद्यपि वो चाहते तो यही है उद्देश्य तो एक ही रहता है क्लेशों से दुखों से बंधनों से बाधाओं से मैं छूट गया हूं पूर्ण सुख बंधन रहित अवस्था स्वतंत्रता की प्राप्ति करूं इस स्थिति में भी उन लोगों का प्रयत्न उनका जानने अथवा किन्हीं वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयत्न जो है <clears throat> वो वास्तविकता से दूर हो जाता है व्यक्ति इसको समझ नहीं पाता अथवा लौकिक प्रयोजन जो कि उसकी दृष्टि में बड़े सुखप्रद है उस वो कृत कृत्य हो जाएगा ऐसे प्रतीत होते हैं उनमें व्यक्ति लगा रहे और कितना संपन्न धनवान ऐश्वर्यवान विद्वान लेखक प्रवक्ता बनने पर भी वह दुखी देखा जाता ये ऐसा क्यों होता है सत्य का जिज्ञासु नहीं वास्तव में जिसको हम ये कहें कि ये वास्तव में सत्य की गवेषणा करना चाहता है ऐसा व्यक्ति वो नहीं है आंशिक रूप में जैसा व्यक्ति को जिज्ञासु बनना चाहिए ऐसा वो व्यक्ति नहीं है और जैसा व्यक्ति जिज्ञासु बन के सत्य की गवेषणा करता है खोज करता है प्रमाणों से सत्य को सिद्ध करता है वो इसको भी नहीं पूरा करता अथवा उसको सत्या सत्य के जानने के लिए प्रमाणों का प्रयोग नहीं करना आता और प्रयोग कुछ कर भी लिया तो अगली बात उभर के आती है वो जो सत्य सिद्ध होता है उसको वो पकड़ना नहीं चाहता वो जो असत्य सिद्ध होता उसको छोड़ना नहीं चाहता उस स्थिति में वह मुख्य प्रयोजन जो व्यक्ति का है उसको सिद्ध नहीं कर सकता लौकिक बातों से लौकिक हानि लाभ से लौकिक मान अपमान से व्यक्ति बहुत डरता है जितना वो इन लौकिक बातों से डरता है हानि लाभ मान अपमान सामान आदि से उतना वो इस बात से नहीं डरता कि मैं जो ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध आचरण कर रहा हूं इससे भी हानि होगी मुझे दुख ही मिलेगा सुख प्राप्त हो नहीं सकता इसकी ओर कोई ध्यान नहीं इसे वो नहीं डरता छोड़ देता है लोग से प्रभावित रहता कभी भी निरीक्षण से आप देख सकते हैं व्यक्ति जितना लौकिक इन बातों से प्रभावित है और डरता है बचना चाहता है उतना ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप मुझे रहना चाहिए ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध मुझे नहीं जाना चाहिए इससे वो प्रभावित नहीं है बहुत थोड़ा आंशिक रूप उससे इतना नहीं डरता उस स्थिति से कि मैं ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध चलूंगा तो मुझे दुख मिलेगा ही इसे डरता में उस अंश में ये एक प्रसिद्ध बात है कि कोई कितने अंश में डरता होगा ईश्वर से कोई कितने में ये तो अलग बात है उसमें देखना है कि ईश्वर से डरना कितनी प्रधानता उसकी रहे कि सांसारिक मान अपमान हानि लाभ आदिकों को वह गौण मानता है ये स्वभावतः तो संसार चलता है इसमें ये बातें होंगी ही परंतु उसमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि संसार के लोग जो कुछ कहें हमको बुरा भला कहें उसमें उनको ऐसा समझ ले ये सारे बेसमझ है ये कुछ नहीं जानते इनकी क्या सुननी है ऐसा नहीं मानना चाहिए वहां इस भूल को करने से क्या करता होता है कि व्यक्ति अपने दोषों को वो अच्छी तरह नहीं देख पाता और जो लोग सुझाव देते हैं उन सुझावों को वो नहीं सुनता वास्तव में जो दोष है उसको वो नहीं सुनना चाहता उसकी भी उपेक्षा कर देता है ये स्थिति व्यक्ति को बिगाड़ती है संतुलन इनको तो सुनना ही चाहिए जो कुछ कहते हैं उसको ध्यान से सुनो ध्यान से देखो कोई भी हो चाहे उसकी बात सुनो फिर परमाणु से उसको अच्छे प्रकार से परीक्षा करके देखो और जो सत्य ठहरता है उसको मान लो और जो नहीं उसको छोड़ दो इतनी स्थिति में भी कोई भी व्यक्ति बिना प्रमाण के और बिना किसी परीक्षा के हमारे ऊपर दोष लगाए आरोप लगाए हमको बुरा कहे तो फिर उसकी चिंता करना हमारा धर्म नहीं उससे दुखी होना हमारा धर्म नहीं उसे डरना हमारा धर्म नहीं ये संतुलन रखना पड़ता है हमारा आंतरिक जीवन अंदर का जो जीवन है एक बहुत बड़ा एक विभाग है बहुत बड़ा क्षेत्र है आंतरिक जीवन का आंतरिक जीवन में जो व्यक्ति अत्यंत सावधान और जागरूक नहीं रहता वो व्यक्ति स्वयं को सफल नहीं बना पाता जैसे कि व्यक्ति मन स्थिति को देखता या नहीं देखता जितना उसको सावधान होना चाहिए अपनी अंतर स्थिति के लिए प्राय नहीं रहता जैसे कि आप देखेंगे कि कभी तो हमारे मन की क्षिप्त अवस्था है कभी मूड अवस्था है कभी विक्षिप्त अवस्था है कभी आएगी तो एकाग्रता आएगी कभी निरुद्ध अवस्था आएगी वो व्यक्ति प्राय ऐसा निरीक्षण परीक्षण नहीं करता और तत्काल उद्दित होकर उस स्थिति को नहीं संभालता कि अब मेरी एक क्षिप्त अवस्था चंचल अवस्था है चित्त की अब इसको कैसे रोका जाए न रोका गया तो परिणाम ये ये होंगे इसको रोकता है फिर मूड अवस्था को देखता है कि ये अवस्था अच्छी नहीं है ये मूड अवस्था है ये जानना और ये हानिकारक है ये जानना फिर इसको रोकना फिर विक्षिप्त अवस्था मान जाता है विक्षिप्त अवस्था कब आई जो आई देखता है ये विक्षिप्त अवस्था है ये विक्षिप्त अवस्था भी किसी से रूप में हानिकारक है तो उसको वो जानता समझता उसको रोकता है और फिर आगे चल के देखता है कि जो विवेक वैराग्य से उत्पन्न होती है अवस्था एकाग्रता की वो ऐसी सुनी है पढ़ी है आज तक उसको अनुभव नहीं हुआ मान के चलो जब आज तक उसको अनुभव नहीं हुआ हो अब तक वो नहीं जान पाया हो तो फिर क्या करता है वो ये देखता है मैं जिन स्थितियों में रहता हूं ये स्थितियां अच्छी नहीं है तीन ही अवस्थाएं मेरी मेरे द्वारा देखी जा रही है चौथी तो है नहीं जो चौथी नहीं है तो मैंने क्या परिश्रम किया आप तक क्या पुरुषार्थ किया जबकि मैं कर सकता हूं सभी कर सकते ये प्रतीक बात है कि कौन कितना समय लगाता है उस अवस्था में जाने के लिए ये अलग बात है तो वो देखता है कि वो ये अवस्था मुझे उपलब्ध क्यों नहीं हो रही कारण प्राय जो वैदिक साहित्य दर्शन उपनिषद आदि पढ़ते पढ़ाते जानते हैं वो शब्द प्रमाण के रूप में जानते हैं जो नहीं जानते उनकी स्थिति अलग है इनको लेंगे तो आप प्राय पढ़ते पढ़ाते हैं तो ये चौथी अवस्था उपलब्ध क्यों नहीं हो रही कारण निश्चित है यदि हम उन कारणों को जान लेंगे उन कारणों को हटा देंगे उपायों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित में ये चौथी अवस्था सामने आएगी यदि हम उपलब्ध नहीं कर रहे हैं तो समझना चाहिए कि आलस्य प्रमाद हमारे अंदर विद्यमान है हम उचित पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं तप त्याग उसके अनुरूप नहीं कर रहे ऐसा वो देखेगा और भी देखेगा तो फिर क्या करता है वो जो ऋषियों ने वैराग्य के लक्षण लिखे विवेक के लक्षण लिखे उनको वो उभारता है और उनके लिए तत्पर रहता है फिर उनको यदि अच्छे प्रकार से उभारने का प्रयास करता प्रचार करता है तो एक स्थिति आएगी वो आ जाएगी मान के चले तो आएगी तो वो स्थिति भी उपलब्ध होना प्राप्त करना बहुत एक महान कार्य है और उसको उसने उपलब्ध किया उपलब्ध करने पर फिर वो देखता है वो स्थिति हाथ से चली जाती है नहीं रहती सोते समय नहीं रहती स्वप्न अवस्था नहीं रहती और कहीं दैनिक जीवन में भी यदि उसकी असावधानी है उसको बनाया रखने का पूरा प्रयास नहीं करता तो उस समय भी नहीं रहेगी कभी कभी व्यक्ति की स्थिति में उभार आता है कहीं वो कुछ विवेक वैराग्य की स्थिति दिखाई देती है उस स्थिति को वहीं रखने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करता या लौकिक चीजों से प्रभावित होकर इसको छोड़ देता है अब इसको उपलब्ध करना फिर वो देखता है कि ये अवस्था भी चौथी अवस्था भी संप्रज्ञा समाधि की है ये भी निरुद्ध की अवस्था हेय है त्याज्य है इसके लिए क्या करना चाहिए जो ऋषिकृत ग्रंथों में विद्यमान है इसके लिए जो कर्तव्य हैं उनको देखता उनको पूरा करता है और फिर निरुद्ध अवस्था को प्राप्त करता है उसको जो प्राप्त करता है उसको बनाया रखना उसको न हटने देना उसके लिए जो पुरुषार्थ करना पड़ता है लंबे काल तक यदि व्यक्ति उसको नहीं करता तो वह स्थिति उसकी परिपक्वस्था अच्छी नहीं आ पाएगी उसके लिए जो उचित प्रयास करने चाहिए वो नहीं करेगा तो उचित प्रयास के न करने से वो अवस्था नहीं बन पाएगी जैसे बननी चाहिए जैसे सतत दैनिक जीवन में वो स्थिति उसकी बनी रहनी चाहिए प्रातः काल उठते ही स्थिति को बनाना और फिर दिन भर बनाई रखना और दिन भर बनाई रखते हुए अपने कार्यों का संपादन करते हुए दूसरों का उपकार करना दूसरों को पढ़ाना कुछ समाज राष्ट्र के लिए कुछ कार्य करना अब उसके सामने स्थिति आती रहती है वो जब समाज के कुछ कार्य करता है कुछ देश के लिए कुछ उपकार करता है पढ़ने पढ़ाने के कुछ कार्य करता है उस समय स्थिति को बनाया रखना और कार्यों को भी करना ये परिश्रम इस स्थिति में व्यक्ति नहीं करता तो भी अपनी स्थिति जो उसकी होनी चाहिए वो नहीं कर पाता इसमें दो भाग है अति कर्मण तो नहीं करना चाहिए अर्थात इस स्थिति को बनाने वाला व्यक्ति इतने कार्य आरंभ कर दे बहुत से इतने कार्य करता रहे बहुत अधिक मात्रा में जुटावे तो उसकी स्थिति तो ये फिर विचलित होने लगेगी अति करने लगे और यदि संतुलित करता है वो जितना कि वास्तव उसको करना चाहिए उतनी मात्रा रखता है और उसको बनाया रखता है एक तो वह देखता है इसके बना बनाया रखने रखते हुए इसको मैं बनाई रखू अवस्था को और फिर कुछ समाज के कार्य भी करूं उपकार जो भी वो करूं वो परिश्रम करता है और उनको जब करता है तो स्थिति में बाधा पड़ती है बाधा पड़ती है तो बाधा को हटाता है कैसे पड़ती है क्यों पड़ती है उसको वो रोकता जाता है ऐसे वो अभ्यास करता है तो वो अभ्यास करते करते उसकी क्षमता शक्ति सामर्थ्य बढ़ता जाता है अभ्यास होता जाता है और नई नई बातें सामने आती उन आतीतों पर मैं कब विचलित होने की स्थिति में आता हूं कैसे विचलित होता हूं मैं आगे फिर ध्यान देता हूं कि आज ये घटनाएं घटी मैं विचलित हो गया था मुझे क्रोध आ गया था तो मैं दुखी हो गया था वो देखता है तो ये क्यों हुआ तो कहता ये तो दोष है होना तो नहीं चाहिए था तो फिर प्रयास करता है फिर स्थिति ऐसे वो संघर्ष करता है और इस पूरे संघर्ष को करते करते वो व्यक्ति इस स्थिति में अपने आप को ले जाता है संसार के जो दूसरों के कल्याण के कार्य हैं उनको उचित मात्रा में करता हुआ अपनी स्थिति को नहीं बिगड़ने देता ये उचित और वास्तव में सफल जीवन की स्थिति है व्यक्ति की एक बात और भी है जानने की कई बार व्यक्ति ये मानता है सोचता है मैं एकांत में रह करके लंबे काल तक मौन रहूंगा लंबे काल तक साधना करता रहूंगा और मैं जो है योग के क्षेत्र को प्राप्त कर लूंगा और प्राप्त करके मैं अपनी स्थिति वो बना हुआ देश रक्षा खबराती होती है और संसार के उपकार की बात छोड़ देता है उसमें कोई रुचि नहीं है उसकी उसका कोई उपयोग नहीं मानता वो और उसे छोड़ देता तो स्थिति क्या रहती है कि वो व्यक्ति प्राय उस स्थिति में अपना जो क्षेत्र है योग का उसको उपलब्ध नहीं कर पाता यदि किसी आचार्य का निर्देश है सतत के ये करना चाहिए अब ये करो या अब ये करो इतना ये करो इतना तब तो ये संतुलन हो सकता है वो कुछ काल एकांत में लगाए तो कुछ समाज में लगाए संतुलन ऐसे बनेगा अपने लिए कुछ समय देता है एकांतता आती है वो एकांतता उसको चाहिए फिर कुछ परोपकार के कार्य उसको करने चाहिए और उसमें घटनाएं घटती रहती है कभी हानि कभी लाभ कभी क्रोध कभी ऐसी स्थिति आती रहती है अब उसका परीक्षण होता जाता है कि मैंने उपकार के काम किए ये मान अपमान हुआ मैंने सावधानी बरती कितने लोगों से मेरा संबंध है वो देखता जाता है अब आज किसी से बातचीत हो गई किसी ने कुछ कह दिया या वार्तालाप करने लगे और वार्तालाप उसको उत्तेजना आ गई उसको क्रोध आ गया और पीछे देखता है कि आज तो स्थिति बिगड़ गई थी तो कल आने वाले समय में इसको नहीं बिगड़ने दूंगा फिर ऐसी घटना होती है फिर ऐसे होता है फिर ऐसे ही होता है पता नहीं कितने वर्षों तक की ये स्थिति चलती जाती है अब ये व्यक्ति ऐसा संतुलन बनाता है समाज के साथ और अपने विचार मानसिक स्थितियों के साथ और एक और ईश्वर है उसके साथ संबद्ध है उसको इन सभी व्यापारों में ईश्वर को साथ जोड़ के प्रयोग करने पड़ते हैं इन स्थितियों में ईश्वर के साथ मेरा क्या व्यापार होता है ईश्वर के साथ मैं क्या ईश्वर को भूल जाता हूं दुनिया को संसार को अपने को याद करता हूं एक एक अवस्था क्या हम ईश्वर को याद करते रहता हूं संसार की कोई परवाह ही नहीं करता संसार रहता रहे क्या करना करना क्या ऐसी स्थिति है क्या आत्मनिरीक्षण में मैं अपनी आत्मा की जो स्थितियां हैं शिफ्ट आदि भिन्न भिन्न रहती क्या उनका अध्ययन तो में नहीं कर रहा हूं कौन कौन सी स्थिति आती है कब आती है क्या मैं उसका अध्ययन करता हूं या नहीं करता हूं अब एक एक बात को वह सबको देखता अब ईश्वर के साथ उसका क्या संबंध रहना चाहिए और भूल होती है तो क्या क्या होती है आत्मा के विचार संस्कार अपनी मान्यताएं अपनी विचारधाराएं और मन इंद्रियों का प्रयोग स्वयं वो कैसे कैसे करता है कैसे संतुलित रखता है मन को इंद्रियों को दिन भर पूरे दिन भर मन स्थिति क्या रहती है आत्मेक्षण प्रातः सायकाल कोई करता हो या एक समय ही करता हो और ये आत्मनिरीक्षण इतना अपेक्षित है कि आप एक क्षण भर भी इसको छोड़ के नहीं चल सकते देखिए हम आंख से देखते हैं तो बुरा या अच्छा चित्र उतरने के लिए तैयार है या नहीं समझ रहे आप आंख से देखते हैं इंद्रियों का प्रयोग करते हैं मन से सोचते हैं तो कोई न कोई शुभ अशुभ चित्र विचारधाराएं उभरेंगी लगातार उभरेंगी विद्युत की बातें उभरेंगी या नहीं उभरती पूरे दिन भर उभरती तो पूरे दिन भर जो विचारधाराएं उभरती हैं कब फिर वो देखता है इनको कौन है उभारने वाला अच्छी बुरी विचारधाराओं कौन उभारता है उसके दिमाग से ये बात नहीं निकलती प्राय वो ये मानता रहता है यद्यपि उसने दर्शनों में उपनिषदों में सुचार प्रकाश आदि में पढ़ा होगा मन जड़ पदार्थ है पर दिन भर तो ये एक है चेतनवत प्रयोग हो रहे हैं मन के प्रयोग चेतनवत हो रहे हैं आप इसको देखते या नहीं देखते कैसा देखते हैं आप अर्थात दिन में देखो हम कुछ सोचते हैं अच्छा बुरा जो हम कुछ इंद्रियों से ज्ञान कर्म इंद्रियों से क्रिया करते रहते हैं उस समय आप देख सकते हैं कि हम कितनी बार जो है हम्म, अपने ज्ञान को खराब करते हैं ज्ञान को विपरीत कर देते हैं अर्थात जैसे कि थोड़ी सी देर के लिए सोचो मन में विचार आता है ईश्वर है ऐसा कहते तो पर ये जचता नहीं है ईश्वर है ये मन में नहीं बैठता अब यही विचार क्यों आ गया ये क्यों आ गया ईश्वर मन में नहीं बैठता अथवा है ही नहीं ये क्यों आ गया विपरीत ज्ञान के चित्र उतरेंगे विपरीत कर्म के चित्र उतरते रहे विपरीत उपासना की प्रक्रिया चलती रही उपासना की प्रक्रिया कैसे विपरीत वो जन्म में चलते फिरते खाते पीते ईश्वर को छोड़ देता है और संसार की चीजों की उपासना करता है इसकी गहराई में देखिए हम खाते पीते चलते फिरते संसार के सुख और सुख साधनों से जो प्रेम करते हैं और ईश्वर का प्रेम छोड़ देते हैं यही संसार के पदार्थों की उपासना है ये दिन भर चलती है इसको न रोका जाए तो व्यक्ति दिन भर इनकी उपासना करता है और वो जो सावधान रहने वाला व्यक्ति देखता है कि मैं अब संसार के सुख और सुख साधने से प्रेम कर रहा हूं या ईश्वर से अब ईश्वर से छूट गया है इनसे प्रेम बढ़ गया है अब इनसे मैंने हटा दिया है इनसे प्रेम नहीं करना इनमें परिणाम दुखा दिए वो ईश्वर से आबद्ध करता अपने आप को तो ये उपासना की स्थिति सतत इस रूप में परिवर्तित होती रहती है एक जीवात्मा की स्थिति है वह संसारिक सुख और सुख साधनों से प्रेम करता है इसको राग कहते हैं अब वो जो प्रेम करता है तो उस समय ईश्वर का प्रेम उपासना छूट जाती है अब ये व्यक्ति क्षण भर भी यदि असावधान रहता है तो ये सांसारिक वस्तु की उपासना से बच नहीं सकता नहीं बच सकता क्षण भर भी सावधान तो नहीं बचेगा उसकी स्थिति ये रहती है या तो ईश्वर की उपासना में लगे रहो उसको सिर्फ ऐसे एक और पहाड़ की वो है शिलाएं एक और खाई हो तो वो जब चलता है यदि थोड़ा सा ईश्वर हो गया तो टकराव होगा पहाड़ से यदि ऐसी सावधानी न की जाए तो टकराव हो ही जाएगा दुर्घटना होगी ही अब आप ये नहीं मान सकते कि हमने सावधान तो रहेंगे नहीं ये तो जानेंगे नहीं ये ईश्वर की उपासना है ये लौकिक तो हम ऐसे ही चलते रहेंगे तो जीवन निर्माण की जो विद्या है जो जीवन निर्माण के लिए पुरुषार्थ है जीवन निर्माण का जो व्यवहार है जीवन निर्माण के लिए जो व्यक्ति को ज्ञान कर्म उपासना ऊंची बनानी पड़ती है वो नहीं बना पाएगा ये निर्माण हमारा होता रहता है उपासना के माध्यम से निर्माण भी होता है और उपासना उल्टी हो तो उससे व्यक्ति का जीवन बिगड़ता रहता है कर्म के माध्यम से व्यक्ति का निर्माण अच्छे कर्म से अच्छा बनता रहता है नहीं तो बुरे कर्म से वो मानसिक बहुत अधिक होते हैं उसे बिगड़ता रहता है इसी प्रकार ज्ञान हमारा परिवर्तित होता है दिन भर होता रहता है होता रहता है उल्टा सीधा उल्टा सीधा सतत होता रहता है अब उस ज्ञान को हम संभाल के नहीं रखते ये बुरा है विपरीत ज्ञान है विपरीय व्यक्ति है और ये अच्छा है ये काट छाट व्यक्ति करके ये विपरीत ज्ञान है इसको रोको इसको नहीं रखना ये सत्य ज्ञान है इसकी स्थापना सतत करते रहो यदि वो कहेगा ये सत्य ज्ञान है सतत उसको बनाया रखो सत्य ज्ञान आपने ये तो पढ़ा है विवेक ख्याति रवि पलवा पर विवेक ख्याति रवि पलवा का अर्थ क्या है वो यही है कि वो अभी पलवा रहेंगे अब विफल हुआ कब होगी जब वो वो चीज को उखाड़ के फेंक देगी ज्ञान का जो सर कैसे गिरेगा जब उसके विपरीत आएगी ज्ञान की धारा संस्कारों के कारण इंद्रियों के कारण या सत्व रजतम के कारण ये सब कारण बने रहते इंद्रिय दोषा संस्कार दोषा पुनः हमारे जो सत्व रजत आदि शरीर आदि में व्यापक है मन आदि में भी वही है हमको प्रभावित करते हैं सत्व रजतम प्रभावित करते हैं तो उसका प्रभाव भी जानना चाहिए तो इंद्रियों का मन का प्रभाव यदि हम उसको नहीं रोकेंगे तो विवेक ख्याति बलवा नहीं हो पाएगी अच्छा जब अभी बलवा नहीं होगी तो पूर्व के संस्कार पूर्व के संस्कार तक बीज भाव की अवस्था में नहीं आ पाएंगे पूरे दैनिक जीवन में व्यक्ति कैसे ज्ञान को देखता और ज्ञान में जो परिवर्तन होते हैं अथवा आप सुनते हैं कि वो किसी विषय का ज्ञान न रहना स्थिति हमारी बनती रहती है बार बार ज्ञान ही नहीं रहना फिर ज्ञान होता तो विपरीत होता है उल्टा ज्ञान होना अथवा उसे दूसरी स्थिति आती है तो संशयात्मक ज्ञान किया जाती है और अगली आती है तो निर्णयात्मक ज्ञान किया जाती है निर्णयात्मक ज्ञान की स्थिति वो निर्णय में बनी रहे वो कितना परिश्रम उसको करना पड़ता है निर्णय ज्ञान की स्थिति निर्णय रूप में बनी रहना अब वो देखती है कि नहीं इन कारणों से जो मैंने बताया तो वो सतत प्रयास करता है ये कारण उपस्थित न हो वो हटाता रहता है वहां पर यदि ईश्वर की उपासना करता है तो ये सारी स्थिति सरल होती है ये बड़ा भारी अंतर है परिनिधान की स्थिति बनाई रखता है तो इसके लिए कोई कठिनाई का अनुभव नहीं होता अर्थात ईश्वर से उसको ज्ञान सतत मिलता है ईश्वर के सानिध्य से उसको सुख भी मिलता है अच्छा उस सुख का प्रभाव यह है कि इंद्रियों के सुख में रुचि नहीं रहती ईश्वर से जो सुख मिलता है तो इंद्रियों के सुख में रुचि नहीं रहती और ईश्वर से सुख नहीं मिले तो रुचि और हो जाएगी एक सुख तो उसको मिलना चाहिए अथवा एक स्थिति और होती है जब सांसारिक सुखों में जब दोष देखते देखते बहुत अच्छी स्थिति आती है तो एक अवस्था और होती है बीच की वो होती है कृष्णारहित अवस्था आई तो तृष्णा रहित अवस्था आएगी तो दुख से रहित स्थिति देखेगा अपनी पर वो रुकेगी नहीं अपने आप में कितनी देर तक रुकेगी कभी सत्व आएगा तो कभी कोई आएगा तो फिर व्यक्ति को प्रभावित करेगी फिर वही स्थिति उत्पन्न होगी अब उसको उपस्थित करके फिर वो ईश्वर के साथ संबंध जोड़ता है अपना उस स्थिति अगली अगली स्थिति को प्राप्त करने के लिए ईश्वर से संबंध जोड़ता है तो ईश्वर से संबंध जुड़ने पर ये सत्वर रजतम प्रभावित नहीं करते और इंद्रियां भी इसको प्रभावित नहीं करती वो दिन भर उस स्थिति को बनाया रखता है अब ये जीवन निर्माण और अपने दोषों को कैसे देखना कैसे दूर करना समाज के साथ हम किस प्रकार का व्यवहार करें ईश्वर के साथ कैसा व्यवहार करें अपने ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया शरीर आदि के साथ हम कैसा व्यवहार करें तो ये सारा मंथन सतत करते रहना चाहिए और करना ही पड़ेगा यदि आप चाहते हैं हम समस्त दुखों से छूट जाएं और सुख को प्राप्त कर लें विशुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लें और इसी स्थिति को हम औरों को भी प्राप्त करवाएं ये आपको सब करना पड़ेगा और करते रहना चाहिए सभी अंशों को देखना चाहिए उनका मैंने संकेत दिया अपने लिए हम इंद्रियों के साथ अपने साथ क्या व्यवहार करें क्या करना चाहिए फिर अपने से संबद्ध संस्था हो समाज हो किसी का परिवार होगा तो उनके साथ हम कैसा व्यवहार करें और उनमें रहने से जो स्थितियां उत्पन्न होती रहती हैं उनको जानना उनको संतुलित रखना देना फिर ईश्वर के साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए जैसे लोक में आचार्य गुरुओं के साथ हमारा संबंध शिष्यों का रहता गुरुओं का शिष्यों के साथ रहता है वो यदि दोनों को नहीं आता ठीक तो वो संतुलित जीवन नहीं बना पाएंगे दोनों वो आना चाहिए दोनों को कि एक दूसरा दूसरे से ठीक कैसे रहे जिससे कि उन्नति हो हानि न हो ऐसे ईश्वर के साथ हमारा संबंध रहता है वो संतुलित हो जिससे हमारी हानि न हो यदि हम ईश्वर के साथ अपना संबंध ठीक नहीं बनाते तो निश्चित रूप में हानि होगी वो तो एक ऐसा कारण है उससे यदि हम ठीक संतुलित नहीं रह पाते ईश्वर के साथ तो कोई व्यक्ति अंतिम जो सफलता है उसको वो प्राप्त कर ही नहीं सकता परंतु ईश्वर के साथ व्यवहार कैसा करें कैसा रहना चाहिए दिन भर वो व्यक्ति प्राय नहीं जानता या जानता है तो उसको प्रयोग में नहीं जाता पूरे दैनिक जीवन में व्यक्ति कितना सावधान रहता है इन क्षेत्रों में ऐसा जानना चाहिए ऐसा आप प्रयोग करते जाइए और जो आज संसार की स्थिति है भटके हुए लोगों की वो व्यापक रूप से संसार भटका हुआ है और आप भी पहले के संस्कार लेके आए हैं उनको नहीं हटाएंगे नहीं रोकेंगे तो आप निश्चित रूप से भटकेंगे और भटकने में देर नहीं लगेगी गिरने में कोई बल ऐसा नहीं लगता बिगड़ने में कोई ऐसा बल नहीं दिखाई देता अपने आप को विपरीत मार्ग में ले जाने को कोई ऐसा बल तप नहीं करना पड़ता और इसके लिए कितना तप तपना पड़ता है कितना संयम कितना पुरुषार्थ कितना लंबा काल लगाना पड़ता है इसको जानना चाहिए अब विराट